तब हम आपको जिंदगी और मौत के दो गुने अजाब का मज़ा चखाते फिर आप हमारे खिलाफ अपना कोई मददगार भी ना पाते